और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया वो कहेंगे कि अल्लाह ताला की किताब में तो बिला शुबा यकीनन तुम उठाए जाने के दिन तक ठहरे हो तो ये उठाए जाने का दिन है लेकिन तुम जानते ना थे